क्या होगा ज्ञान का ज्ञान कोई दुबारे क्या इसलिए हो नहीं सकता ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता प्रकाश के प्रकाश नहीं हो सकता कथन बोधात्मक बोधोपदेश है शास्त्र इसलिए बोधात्मक बोध का आत्मा बोध रूप आत्मा कह दी भी बोध को उपदेश आप जो कर रहे हो सार्थक कह रहे हो कैसे कहते हो तब कहता है कि नहीं तब अच्छा तो बोधा बोध हो समझिए इसको सुख नहीं है अन्य नहीं करता कैसा हिंदू है अन्य हिंदू पूजा का युवा ओरिजन अग्नि में जैसे ठंडा उसी प्रकार से आत्मा के बोझ और अवध दोनों अज्ञान और ज्ञान रात रहनी है आदित्य ने लोग इसे दिन और रात तो दोनों ही सूर्य को मान कर देखा है सूर्य वास्तव सूर्य में बन रहा है क्या ये सूर्य में दिन रात हो जाए तो मुश्किल हो जाए सूर्य में दिन रात नहीं ये सूर्य में से पृथ्वी में दिन रात जैसे औष्टम अविनिमिषम और गर्म भी है गर्म नहीं भी है जल अभिनिमित्त उसके अंदर तत्व अनुष्णत्व की स्थिति अपने स्वरूप न उष्ण हो न तो उष्ण है रात्रिणी व आदित्य निमित्त लोक है इधर लोक में देख लो आप आदित्य निमित्त रात्रि और अन्न होता है दिन और रात जो है सूर्य निमित्त हुआ करता है हो औष्ट प्रकाश हो अभय आदित्य हो वास्तव में उष्ण उष्णता अग्नि का और प्रकाश का आदित्य का अपनित्य स्वरूप है जल का स्वरूप नहीं है न लोक का स्वरूप जिल रात होना इनसे सूर्य निमित्तक अग्नि निमित्त जिस प्रकार से आ जाते हैं उसी प्रकार से अन्यत्र भावा भाव निमित्त सामान्य हो गया जो जान नहीं है वहाँ वहाँ पर इसके भाव और अभाव दोनों प्रतीत होने लग जाए तो अनिमित मानना चाहिए अन्यत्र भाव निमित्तवाद अनित्य उपचरिए इसलिए जो है अनित्य के समान को औपचारिक समझनी चाहिए अनित्य की भांति औपचारिक प्रतीति ही समझना है तो इसलिए दक्ष की अग्नि प्रकाशिषित स्मिता यथार्थ किस प्रकार से लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि वह व्यवहार की वास्तव में तो नहीं है अग्नि जलाता है अग्नि जलाता है और सूर्य प्रकाश करता है इति ठीक इसी प्रकार से अग्नि जला देगी सूर्य प्रकाश कर देगा ऐसा लोग कहते हैं ठीक वैसे ही जो है ना पितृत्व विज्ञान स्वरूप आपका जो शरण का अरे मैं इसको जानता हूँ मैं इसको एवं सुख दुख बंद मोक्ष आदि हथियारों को लोकस्य इधर आत्मा में वास्तव न सुख है न दुख है न बंध है न मोक्ष ये सारी चीजें इत्यादि जितनी भी हैं सब सब लोकस्य आरोप लोक में दे चुके हैं वह कल्पित जीव का द्वारा आरोप किया गया है अपेक्षा प्रतमसी आत्मति आत्मबोधोपदेश केवल अध्यारोप अपहाता इसलिए उस लोक के विराकृत अध्यारोपों की अपेक्षा करके ही तत्व सीमा वाक्य आत्मनित्या वाक्य जितने भी हैं आत्मा बोध को उपदेश पर जितने वाक्य किया सब के सब आत्मा के वास्तविक ज्ञान रूपता को उपदेश करते हुए के अध्यारोप को निवृत्त करते ही अध्यारोप का अपोहार था यदा सविता असो प्रकाश यदि आत्मानुमति तद्वत जिस प्रकार से अघो सविता आत्मान प्रकाशे थी जैसे पहले सूर्य अपने आप को प्रकाशित कर लेता है सूर्य अपने आप को प्रकाशित करता है सूर्य जगत को प्रकाशित करता है तो प्रकाश स्वरूप ही है जो प्रकाश स्वरूप है दीपक अपने आप को थोड़ी प्रकाशित कर रहा है दीपक दुनिया को प्रकाशित कर रहा है और क्या होता है दीपक अपने आप को प्रकाशित कर रहा है आप दुनिया को भी सूर्य अपने आप को प्रकाशित करते हुए दूसरे को प्रकाशित करते इसी प्रकार से लोगों में जो है एक लौकिक व्यवहार जैसे कर लेते हैं आत्मा जो है आत्मा को भी कह गया आत्मा अपने आप को प्रकाशित करते हुए इन आत्मा को या किसी भी प्रकाशित स्वरूप वस्तु को अपने आप को प्रकाशित करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रकाशित स्वरूप ही है सूर्य प्रकाश स्वरूप होता हुआ तो व्यवहार आप देख रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ समझना इसलिए बोधाबोध संच नित्य बोधात्मनी इसीलिए नित्या में बोधाबोध बोध कर्तृत्व भी इसी प्रकार से समझ लो वो आरोप ही है तदत का करके कम दिया निष्कर्ष अबोध कर्तृत्व बोधाबोध कर्तव्य मतलब क्या अबोध कर्तृत्व बोध कर्तृत्व अज्ञान कर्तृत्व और ज्ञान कर्तृत्व दोनों के दोनों वास्तव में जो है ना अत्यारोपित ही है तस्मात अन्य अभिता निष्कर्ष हुआ कि आत्मा अविदित से अव्यक्त से भिन्न नहीं है अभी अथो अविदिता अभी मंत्र में अधि शब्द था अभी शब्द अन्य जो तो पद में कह दिया था वही अत्यंग होगी इसलिए व्याख्या नहीं करते यदवा उत्तरी अर्थवादी या यदि यदि तत्व तो तो अन्य सामर्थ्यादि यथा अधि वृत्यादि नाम राजा जो जिससे जिसके ऊपर हुआ करता है वह उससे भिन्न होता है अपने सामर्थ्य से यदि अभी अभी मैंने उपरी जो जिससे परे ऊपर होता है वह निश्चित रूप से भिन्न होता है सामर्थ्या क्योंकि अभिन्न में ऊपरी अधोभाव नहीं हो सकता अभिन्न में ऊपरी अधोभाव नहीं हो सकता आगे कह देते भी आज जो आत्मा है या गद्दी पर बैठा है और कुछ आत्मा नीचे बैठा है ऐसा बोलेंगे शरीर ऊपर नीचे बैठ सकता है तो शरीर भिन्न भिन्न है सबका है ना लेकिन आत्मा ऊपर नीचे नहीं हो सकती भेद भिन्न वस्तु में ही अगो ऊपर भाग की व्यवस्था बन सकता है तो ऊपर यदि भाग व्यवस्था को सामर्थ्य को देखते हुए वो अभाव उसके ऊपर है तभी व्यवहार हो सकता है जब वह उससे भिन्न होगा जैसे दृष्टान यथा अवधि इत्यादि नाम राजा वृत्यादि उनके पीछे से राजा ऊपर है महान है इसी प्रकार यहाँ पर भी समझो अव्यक्तम देव अवीतम तथो अन्य किसी का व्यक्त क्या है वो अवीत है उससे भिन्न है उससे परे है उससे ऊपर है कौन क्या आत्मा बीजम अवितम जो लगता निर्दय कार्य कारक विकल्पित है इसलिए वितक और अवितक व्यक्त और अव्यक्त शब्दों से कार्य और कारण शब्दों से विकल्प पूर्व कहा जाता है और तारस कार्य कारण भाव से अभ्याम अन्य और प्रकार कार्य का अनुभाव से भिन्न नहीं है कौन आत्मा जो ब्रह्म है विज्ञान स्वरूपम सर्व विशेष प्रत्यमित विधि अयम समुदाय कहा अभी तक की समुदाय के मंत्रों का चार मंत्र निकृष्ट अर्थ निष्कृष्ट अर्थ ये निकला कि वह सर्व विशेष प्रत्यस्तमित है सकल विशेषों से रहित है अयम समुदाय यही यहाँ समुदाय का अर्थ अतएव न ही उपाधि ये आत्मा होने के नाते वह न तो ही है वह न तो उपाधि अन्य भी अन्य में ही उपाधि जहाँ भेद होगा ना तो वही एक दूसरे को त्यागेगा एक दूसरे को ग्रहण करेगा जहाँ भेद होगा आप अपने से भी मान रहे हैं इंद्रियों को विषयों को सात इंद्रियों को विषयों को त्याग कर सकते हैं किंतु आपसे या किसी को ग्रहण करना है तो आप अपने से भिन्न उसको तो ग्रहण करोगे आप अपने आप को तो नहीं खाओगे कभी आप तो रोटी को खाते हो ना क्यों रोटी आपसे अलग है उसको तो आप खा सकते लेकिन आप अपने आप को नहीं खा सकते कैसे खाओगे नहीं खा सकते इंद्र ज्ञान भी कहते हैं कि भाई देखो आप अपने आप को न त्याग कर सकते हैं न आप अपने आप को ग्रहण कर सकते हैं नियम यही होता है जो अपने से भिन्न होगा जो जिससे भिन्न होगा उसको ग्रहण करता है या क्या करता है न तेने व तक यह उपाय उसी से उसी को कोई ग्रहण कर सके या त्याग कर सके ऐसा कभी किसी से होता नहीं है इससे कच्चे भी नहीं देवता भी क्यों हो भगवान भी क्यों ना हो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता स्व के स्व का ही त्याग कर दे स्व से स्व का ही त्याग कर दे स्व को से स्व का ही ग्रहण करे ऐसा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि स्व स्वस्वरूप से भिन्न नहीं होता यहाँ भेद नहीं है ग्राही भाव या उपाधि भाव या त्याज भाव या हे भाव नहीं हो सकता इसलिए कस्यचित ये से कस्यचित अभी तेन तदेव एम उपाधि न भवती संसार में जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा भी आप ये प्रयास करके पता लगा लें कि कभी भी वो व्यक्ति नहीं कर सकता उसी से उसी का मिथ्याग दू ऐसा हो नहीं सकता तो कहते ये तेजदी सत्य ये तेजदी सत्य तेन तत्व हो गई ये ना यह तात्पर्य है अहंकार से अपने सारे चीज को त्याग दिया अब अपने स्वरूप स्थित होकर अहंकार को त्याग जिससे सबको त्यागा था इस अहंकार को लेकर के ही आप सारी चीज को त्याग दिया और कहते मैं ये त्याग दिया मैंने वो त्याग दिया मैं ये नहीं करता हूँ वो नहीं करता हूँ बोलते नहीं बोलते मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए मुझे सबको त्याग दिया है तो मैं जिससे आपने सबको त्यागा है उस मैं को भी स्वर्ग से होकर त्याग रही वहां कहा गया वहां भी अहंकार अलग है स्वरूप अलग है तभी ये नजदीकी सत्य जो व्यवहार हो जाता है लेकिन स्वस्वरूप को ही स्वस्वरूप से ही त्याग करना स्वस्वरूप से ही ग्रहण करना पाचक ब्रह्म सर्वांतरियामित्वाद अविषयम और आत्मा क्या है वास्तविक नहीं है और सर्वांतरियामी है अतएव किसी भी इंद्रिय का अथ अन्य अविषय जैसे मन का विषय नहीं है उसी प्रकार से अन्य भी अन्य इंद्रियों का भी वो विषय नहीं हो सकता अन्य विषय अविषय मतलब क्या नहीं न उपाय मन इंद्रियों के द्वारा भी आपका ये भ्रम नहीं है उपाय क्योंकि इंद्रियों का भी वो स्वरूप वस्तु वास्तव में है उनका भी अधिष्ठान रूप ही है उनका भी स्वरूप कारण ही है इसलिए कहते उनसे भी भिन्न न होने कारण से इंद्रिया भी ना आत्मा को त्याग कर सकते हैं न आत्मा को ग्रहण कर सकते इसलिए कल्याण मनसा अनुभव से अन्य अभावाचा स्पष्ट कर अन्य अभावाच आत्मा ही नाम सर्व क्योंकि आत्मा ही भेद है कहा अन्य बात मैंने आत्मा से भिन्न इंद्र नाम के जैसे उपलब्ध हो तो इंद्रिया आत्मा ग्रहण भी कर पाती जैसे घट से भिन्न इंद्रिया है तो इंद्रिया घट को ग्रहण कर लेते हैं इधर आत्मा से भी इंद्रिय होते तो इंद्रिय भी आत्मा को ग्रहण कर लेते तेन वास्तव में आत्मा ही इंद्रिय सर्वमात्मा ही तो इसलिए सारा स्त्री क्या था सभी में आत्मा है सभी में आत्मा है सर्वेश आत्मा पहला होता है तो सर्वेशा आत्मा एक ये होता है सर्व एव आत्मा स्वहमेव चार स्त्री वेदांत अनुभूति का है इसे पहले आप लोग यही तो कठिन है वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा आत्मा ही वयम सर्वमिति वासुदेव एवं सर्वम स्थिति तीसरी स्थिति का वर्णन है अब स्वयं के आत्मज्ञानी तो आत्म तो में नहीं मतम का तो वो जो जान गया कि मई वो ब्रह्म उसके लिए कहा जाता ज्ञान के आत्म और फिर पहले वासुदेव सर्वमिति आत्मा ही सर्वमिति ऐसा जो अनुभव करेगा वो भी दुर्लभ है जो होगा हमारा आत्मा लगे आपका आत्मा लगा ये लड़ाई झगड़ा हो जाता है नहीं आप कैसे कहते हो सभी में एक ही आत्मा है हाँ सभी में अलग अलग आत्मा है ये तो सभी मान भी लेंगे काला सिद्ध करी करो सभी मान सभी में अलग अलग अनंत आत्मा है के लिए मानता है योगी मानता है मैं भी मानता त्रुटि से वैसे इसलिए मान रहे हैं या स्वीकार ये बात मान लेते हैं गवार भी मानेगा मूर्ख भी मानेगा कोई नास्तिक नहीं मानेगा वैज्ञानिक नहीं मानेगा अभी सैद्धांत दृष्टिकोण से इन्हें वास्तव में वो भी मान रहा आप चलेगा कुछ है तो बताएगा नहीं है तो क्या कर विज्ञान में से अगला बना दिया इधर भूतों से बनता है कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान क्योंकि बहुत हार्ड है लोग कोशिश करना एक बार एक आदमी मरते हुए आदमी को पूरे बंद कर दिया और पूरा वैक्यूम निकाल दिया हवा निकाल दिया वैक्यूम बना दिया हवा पूरा अंदर से निकाल दिया मरना ही था वो तो वैसे भी वो जानते तो मरने वाला है तो कुछ कर नहीं सकते उन्होंने क्या बंद करके दिया हवा निकाल हवा निकाल दिया अंदर से लाकर कर दिया अब वो बच्चे मरेगा तो उसकी योगी आत्माएं तो निकलना चाहिए ना से निकलेगा निकलने के रास्ते में तो बंद करके सील कर दिया धीरे जो आत्मा कहा पर कहाँ जाकर उन्होंने बड़ा जो है खोपड़ी लगाया बच्चों बना के अंदर छोड़ दिए उस आत्मा का माहौल क्या हो मर जैसे मरा उसकी आत्मा जैसे निकला विलास का जो कमरा था बना था गिलास दिखा आराम से मशीन फेल हो गया कुछ दिखाए तो दिया नहीं कुछ बात गया जो आत्मा है जो मतलब, गया वो आत्मा होगा और क्या होगा क्या हमारे कोई मशीन दिखाई नहीं दे रहा स्त्री व्यक्ति तो गया नहीं है सही तो वैसे ही पड़ा है यहाँ गया क्या हम उसी के अंदर आज तक भी वे खुद भी लगा रहे हैं तो गया क्या लगता है इसी को ये भारत के लोग आत्मा कहते हैं जो है उसी का नाम भारत के लोग आत्मा कहते हैं तो अभी भी वो हो सकता है उनकी कोई निश्चित नहीं जब तक वो से नहीं पकड़ेंगे तब कैसे जो कहते इसी को शायद मानते आत्मा करेंगे हम अभी वैज्ञानिक लोग उसको घोषित नहीं करेंगे कि जो निकला था वो आत्मा ये प्रश्न लगे हुए बेचारे आप सोच रहे हैं मशीन से पकड़े तो साफ किसी को सूर्य है तो किसी को भी पकड़ नहीं सकते उसी के उसी की चेतनता पचासता से सबको पकड़ रहा है और उसको पकड़ने की चेष्टा करोगे तो नहीं पकड़ सकते इधर यहाँ कहते हैं कि अन्य भावाची पूर्वेशम पूर्वेशा आगम उपदेश ऐसा हमने सुना था इस तरह से जो है आगम भी उपदेश है पूर्व पूर्वाचार्य उनकी अगर सुनने का मतलब तो आगम व्याज दक्षिण अस्वातंत्र तर्क प्रतिषेधा ब्रह्म का ज्ञान अस्वातंत्रता को प्रकट किया व्याज चक्षुर इसे क्या करें अस्वातंत्र का कथन मैंने आप अपने मनमाने पढ़ के समझ लें अपने आप पुस्तक पढ़ के जान लो स्वतंत्रता पूर्वक किसी गुरु से सुनने की जरूरत नहीं ऐसा गुरु अस्वतंत्रता को कथन करने के लिए ही यहाँ पूर्वेशान तीसरे सब शब्द प्रयोग है इतना ही तर्क प्रचिरा श्रोत के अनुकूल तर्क करो श्रुत प्रतिकूल तर्क करना जो है तर्कता माप को तर्कता पंचदशी का स्पष्ट कर देती है तर्क करो वही मनन है ये श्रुति अंतिम कर श्रुति को अतिक्रमण करके कोई पर करे कुतर्क करे वो उचित नहीं है उसका तो विनाश है ये नव्य ब्रह्म ये जो आचार्य लोग न अस्मा अस्माकम प्रति पर ब्रह्म जो है उस ब्रह्म को सुस्तवंत नित्यमेव आगम ब्रह्म कर व्याख्यातवंत हो कई लोगों ने कहा इस आश्रम को जो नित्य ही ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला है न वो अपने कपोर कल्पित कोई वचन ये नहीं कह रहे स्वबुद्धि में प्रभव उत्पन्न कपोर कल्पित कोई विचार को कथन नहीं कर रहे हैं न तो तर्क के द्वारा वो कह रहे न तो तर्क उत्तम यदि आत्म अविच्छेदम अविच्छेद विद्या आगम जो है परंपरा से आया हुआ है ये अविच्छिन्न परंपरा है इस बात को दर्शा करके विद्या के स्तुति की गई तर्क तो अनवध भ्रांतव्य भवती और जो तर्क है तर्क से प्रतिष्ठानार्थ के स्पष्ट करते हैं सर्ग कोई प्रतिष्ठा ही नहीं वो अवस्थित हो नहीं सकती कोई अंत नहीं करते जाओ करते जाओ तर्क करते जाएंगे इसलिए कहते हैं वो अनवस्थित होता है और शांति भी बोलता है और तर्क का ध्यान के तर्क का आधार नहीं रहता है निराधार तर्क भी करने लग जाए क्या करो ध्यान तर्क की तर्क के लिए भी व्याप्ति आरोप व्यापक आरोप तर्क उनकी भाषा के अनुसार ही व्याप्ति का आरोप दोबारा व्यापक आरोप होना चाहिए ना व्यापक आरोप की संभावना नहीं है केवल व्यापक आरोप कथन करो तर्क करो गलत है तो इस प्रकार से ध्यान तर्कों के द्वारा भी लोग इस जगत की कल्पना है तो इस जगत का संस्कार का कल्पना करने के लिए संस्कार के लिए कोई अनुभव चाहिए तो अनुभव किस जगत में हुआ था क्योंकि ये लोग में क्या है ये सत्य रजत का हमने अनुभव किया उस तो सत्य रजत के अनुभव के आधार पर संस्कार बनी उस संस्कार को लेकर के मिथ्या रजत का और करके भ्रांति होती है इसी प्रकार यदि आप गति यह जगत मिथ्या है आरोपित है रजत फिर कहीं न कहीं सत्य जगत होगा जिसको अनुभव करके मैं आया था और यहाँ पर अब मिथ्या ये जगत का आरोप ऐसे कब करते हैं लोग ऐसा हो गया जवाब दो तो हमें कहना पड़ेगा नहीं जी देखो वहाँ जो दृष्टांत आप ले रहे हो ना एक व्यावहारिक सत्य साध्य संपन्न था और एक पाठ्यक्रम था और ये दोनों ही वाक्य में कहा है पारमार्थिक दृष्टिकोण से मानव सत्यता दृष्टि इसे व्यावहारिक सत्यता वाला का संस्कार लेकर के शादी सत्ता और वस्तु का मारोप कर लेते हैं इसी दर्शन यहाँ भी कह रहे हैं कि आवध में ब्रह्मानुभूति नहीं हुई ये जो जगत अनुभव हो रहा है ये जगत अनुभव व्यावहारिक सत्यता संपन्न अनुभव है इस अनुभव के लिए संस्कार को लेकर गई ब्रह्म ज्ञान के पश्चात आप मिथ्या जगत का व्यवहार कर सकते हो अच्छा जगह इस समय मिथ्या जगत थोड़ी हुई है इस समय आपके लिए जगत मिथ्या नहीं है इसलिए व्यावहारिक सत्यता वाला जगत है इसे व्यावहारिक सत्य जगत का अनुभव के आधार पर संस्कार बना और उसी संस्कार को लेकर ब्रह्म ज्ञान के पश्चात मिथ्या जगत को लेकर व्यवहार करते रहेंगे कोई आपत्ति नहीं इसलिए व्यावहारिक जगत और ब्रह्म ज्ञान पूर्व काल में व्यावहारिक जगत ब्रह्म ज्ञान उत्तर काल में प्राकृतिक जगत ही रहता है और वास्तव में ब्रह्म स्वरूप में न तो व्यावहारिक जगत है न तो प्राकृतिक में न तो वहाँ पहाड़ का सर्प है न आपको कल्पित जरूरी नहीं न व्यावहारिक सत्ता वाला सर्प भी नहीं है प्राकृतिक सत्ता वाला सर्प भी रसे भी अधिष्ठान नहीं होता व्यावहारिक रजत भी शुक्ति में नहीं है प्राकृतिक रजत भी शुक्ति में नहीं है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी न तो व्यावहारिक जगत है न तो कल्पित जगत है दोनों ही जगत वास्तव में अधिष्ठान नहीं होता आप दोनों ही अधिष्ठान दृष्टिया रस्सी का दृष्टि है वो असली सर्व भी आप वास्तव में सर्व ही नहीं है रस्सी का अधिष्ठान दृष्टि ये कोई समझेगा उत्तर पुत्र क्यों करेगा न मानेगा नहीं गए नहीं हम मानते ही नहीं हम बार बार सत्ता मानते ही नहीं तो क्या करोगे वे नहीं मानने के पीछे कोई प्रमाण पूछो कोई आधार पूछो हम नहीं मानते आप सिद्ध करो आप वैसे सिद्ध कर दो सिद्ध से सिद्ध करेंगे तो ऐसे ही जो कुतर्क उचित है जरा ग्रह करना कुतर्क करना ये बिल्कुल उचित नहीं है ये बात को समझाने के लिए यहाँ पर जो है परंपरा का उच्छेद हो गया प्रजा को पूछा हमारी का वो दृष्टा का मिथ्या ही है दृष्टा नहीं दृष्टा दृष्टि पर लोगों विद्या ये जो विशिष्ट प्रकाश करने वाले को दृष्टा लोग तो मिथ्या है लेकिन दृष्टा के दृष्टित्व जो होता मूल प्रकाश मूल चेतन वो सत्य है तो इसी दृष्टित्व को लेकर आत्म में कल्पना है यह जैसे श्रोत से श्रोत तो आत्मा श्रोत है क्या यहाँ जो श्रोतृत्व आया इस शब्दों पर धृत्व आया है इसका आरोप करने के कारण तो उसको भी श्रोत कह रहे आंखों आंग है कानून का भी कारण है वो एकांत थोड़ी आत्मा आंख थोड़े आत्मा लेकिन यहाँ से जिसको लेकर इसमें आया जो उपलब्धित्व रूप उपलब्धि शब्दों के गंधों चित्र वगैरह आया है जो ये उपलब्धित्व का कारण कौन है वो है क्योंकि उसको भी जिस प्रकार का उपलब्धित्व ने लिया उसका उसको भी कर दिया वास्तव वही थोड़ी है जैसे आपको अभी हम कहेंगे विद्यार्थी कुछ देर बार कहेंगे आप मुझे पाचक है कुछ देर बार कहेंगे भंगी झाड़े मारूंगे तो लेकिन वास्तव में ना भंगी है ना आप रसोई है ना विद्यार्थी यदि कर्तव्य क्रिया को लेकर के आरोप किया गया वास्तव में तो है इसलिए वास्तव में आता न तो दृष्टा है न श्रोता है न मंथ है न ये मंत्रानुवाद और दृढ़ प्रतीत है ये वाचा इत्यादि जो मंत्र में आया वह सब जो है अनुवाद है दृढ़ प्रतीत मात्र के लिए अन्य योयम आगमार्थ ब्राह्मणोक्त अशिव त्रिडिम्नि मंत्रा यदवाचित ज्ञान पठ्यम अन्य विदागति ये जो मंत्र है वो ब्राह्मण भाग का मंत्र है वो आगम है और उसको पुष्ट करने के लिए दृढ़ करने के लिए अश्चर्य दृढ़ उसी मंत्र के ब्राह्मण के द्वारा कथित पदार्थ को दृढ़ करने के लिए ही यदवाच्य इत्यादि अनेकों मंत्रों द्वारा पाप किया गया यद ब्रह्म वाचा शब्देन अनपीतम अनभ्युक्तम अप्रकाशित ब्रह्म ऐसा है जिसको आप शब्दों के द्वारा प्रकाशित नहीं कर सकते ये नवादी वाक प्रकाशित तो ये सूत्र आया ये नवादी इत्यादि के द्वारा क्या है वाक प्रकाशित तो वाक का भी हो वाक में जो शब्द प्रकाशित आया है उसका जो कारण है वो आत्मा है लेन प्रकाशित के वाचो अभिधान से अभिधेय प्रकाशक हेतुत्व उच्चते ब्रह्मणा व्याख्या कर रहे हैं ये न प्रकाशित वाचा अभिधान से अभिधेय प्रकाशक वाचा वाले मतलब शब्द जिसके द्वारा आप वस्तु को प्रकाशन कर रहे हैं किसके द्वारा शब्द प्रयोग द्वारा घटा शब्द प्रयोग द्वारा आप घट वस्तु को प्रकाशित कर अदवाचा मेरा अभिधान शब्द वो तो क्या करता है अभिधेय का प्रकाशन करता है पारस प्रकाशन विकारी के प्रति तो ब्रह्म है इसके प्रति कारण बने ब्रह्म ये बात कहा गया उत्तंज के निशिता वाचन माम बदंती यद वाचन वाचम इतना पहले भी जो कह चुके हैं वाचो वाचम के निश्चित वाचम इत्यादि की बात तदेव ब्रह्मत्म यदि अविशक्तर भ्रमण आत्मव्यवस्थापना आमनाया तदेव ब्रह्मत्म नैरम्य उपास क्यों कहा जा रहा है कहते कि अविशक्तर ब्रह्मण की ब्रह्म जब किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है तो जो जानो जानो बोल दिया इसलिए तात्पर्य है आत्मव्यवस्थापना है आत्मा में ही सकल वृत्ति को स्थापित करने में इसका अवधारण करने के लिए कहा गया है ये वेदम वाक प्रकाशन संचा जो वाक के द्वारा प्रकाशित नहीं है किंतु वाक का भी प्रकाश का निमित्त जो है वो ब्रह्मणो अविषेत्व अनुसार ब्रह्म जो है ना अविषयत्व तंत्र निवर्त्या इसलिए कि जैसे आप वक्तंत्रों को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं वैसे उस ब्रह्म से भिन्न किसी भी वस्तु को आप ग्रहण करने की इच्छा न करें तो ब्रह्म को ही ग्रहण करने की इच्छा ब्रह्मण अविषय तो न ब्रह्म तो अविषय है इसलिए आप चाहेंगे कि वक्तंत्र जिग्रक्षा जिज्ञासा वस्तंत्र की आप जिज्ञासा करना चाहेंगे वह उसको निवृत्त कर दिया ये नहीं जम ये विदम उपास ग्राही जितने भी है ब्रह्म से वस्तु वो वास्तव ब्रह्म है नहीं इसलिए उसकी जिज्ञासा मत करो ये विधि बता स्वात्मी एव अवस्था यदि आमाया कहने का अपने स्वरूप ही मेरे को स्थापित कर देता है ये आमना है तदेव ब्रह्म तम विधि थी यहाँ विधि कह करके यहाँ पर जो है प्रयत्न कर रहा है जानो लोट लगा रहे ना दूसरे को प्रेरणा देने के लिए जोर देना पड़ता है ना अरे आप ऐसा कीजिए प्रयास क्यों कैसे करेगा भावित व्यापार है ये भवित्र भवनान में भावित व्यापार भावना के लिए लोट लगा प्रयोग होगा निधि के लिए ऐसा ये तुम्हें आगम क्यों कर श्रुति क्यों जोर दे रहा है आपको ऐसा करने इसी को ही जानो भले ही यह है किसी का विषय नहीं हो सकता फिर भी अपने आप को संरक्षित होकर किसी का अनुभूति स्वरूप करके ग्रहण करने की कोशिश करो ऐसी जा रहा करना है क्या कारण है तो निश्चय प्रकार इतर बोधा यत्न महाकाशी इतर बोधाया टिप्पण महाकाशी इत्यर्थ के लक्षण या विधि पदेना वेदाचार्यो वितरणोर पितर बोल के लिए ये न करो इस अर्थ को प्रकट करने के लिए लक्षण करके इस अर्थ को प्रकट करने के लिए विद्य किया गया है इसी परिणाम वेदाचार्य उत्सु है उत्सु तरह जो भूस है जिज्ञासु है उसको कर रहे हैं पितर को निवृत्ते थी पितर वस्तुओं का बोध करने की यत्न से उसको निवृत्त कराने के लिए ऐसे समझे मरीराम इति उपास प्रतिषेधाक्ष मूल निर्णय उपास प्रतिषेधाक्ष नरिदम ऐसे उपासी का प्रतिषेध करने के कारण से भी क्योंकि विशुद्धांत करने वाला है जब सर्वेंद्र प्रयत्न को प्रणाम कर लेता है उस समय जो स्वाभाविक जो आपका अपना चित्त आकार है छिद्रुपता का अनुभव होता है वही यह ब्रह्मात्मा है जो ईधन तया जो वृत्ति तया वृत्ति विशेषतया जो भी आप ग्रहण करते हैं या वृत्ति साक्षी जो भी आप ग्रहण करते हैं उनमें से कोई भी आत्मा नहीं नीचे से टिप्पणी का शुद्ध भी सर्वेन्द्र प्रयत्न उपरम यह स्वाभाविक चित्त आकार सएव ब्रह्म बोधे थी बाबा शुद्ध देवी थी शुद्ध वाक्य से विशेषा शुद्ध जी कौन है जो शुद्ध वाक्यों को अर्थात हमने इस प्रकार से वेदांत को श्रवण करेंगे और हम तक कर्ण भवित कर लिया है स्वाभाविक चित्ताकारी ब्रह्म अहम अस्मी एवं एवं संभव और तब कुछ नहीं होगा स्वामी चिंता कर क्या होगा ब्रह्म अहम अस्मी तो इस प्रकार से उपास्य को प्रतिषेध कर दिए स्वरूप की ओर आकर्षित कर दिया शिशु को ताकि जो आपको रोग दर्द हो तो दृढ़ कर सके यन मनसा इत्यादि समानम जन मनसा इत्यादि समानम बाकी सभी क्षोत्रेण यद प्राणेना कई वहां पर पर्याय आ रहा है सुगण पर्याय केवल बारम्बार जो है दृढ़ता करने है लिए की ये न मनोभि विषय कृतम नित्य विज्ञान सर्वज्ञता उस क्योंकि उस भ्रम के द्वारा वास्तव मन को भी विषय कर लिया जाता है मन ब्रह्म विषय ही करेगा लेकिन ब्रह्म मन को विषय कर लेता है अर्थात ब्रह्म अपनी प्रकाश को मन को दे देता है ताकि मन उस प्रकाश को लेकर के ईश्वर का प्रकाश बन सके इस तरह से मन ब्रह्म जो है एक तरह से मन को अपना विषय बना जो होता है ना आप किसी को जो सौ दो सौ रुपया दे देते तो क्या हो गया वो आपके लिए हमेशा ही बन गया आपके अधीन हो गया आपको विषय बन गया ना वो अभी वो हमेशा याद रखे भाई मुसीबत के समय इन्होंने मेरे को बचा दिया था वह आपका विषय है आप जो बहुत का विषय बन गया आप जब ऑर्डर करो तो सामने चढ़ाओगे हमारा हाँ, क्योंकि उसको अंदर महसूस होता है कि उन्होंने मेरे को मदद किया भाव रखा है तो आप किसी का अपना विषय बनाना है विषय बनाना क्या इंद्र भो का वस्तु बना लेना चाहेंगे तो आप क्या करें उसको अपने से कुछ दे देंगे और जब कुछ दे दिए और ले लिया आपसे फिर वो तो आपके अधीन होगी तो आपका विषय बन गया हुआ इसलिए ब्रह्म ने क्या किया अपना प्रकाश स्वरूप से थोड़ा सा एक तुरंत प्रकाश वहां दे दिया एक तुरंत दे दिया आप उसका दिया और उसी प्रकाश को लेकर अपना काम चला रहे हो मन ब्रह्म के प्राप्त एक रश्मि रूपी प्रकाश को लेकर के अपना विषय ग्रहण करना भी अपना शुद्ध का साक्षात्कार करना भी कार्य को करते रहता है हमेशा इसे बधाई मन ब्रह्म करणी है इधर जब भ्रम का विषय मन हुआ एक मन भ्रम को विषय नहीं कर जैसे वो प्रभाव में होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है इसे कहते ये न ब्रह्मणा किस ब्रह्म के द्वारा बस मन को भी विषय कर लिया गया है नित्य विज्ञान स्वरूप देना कैसे कर लिया आपने आपने नित्य विज्ञान स्वरूप द्वारा कर लिया ब्रह्म ने सर्वकरणाम अभिषेम कहने का तात्पर्य क्या है सकल ज्ञान इंद्रियों का सगल कर्म इंद्रियों का किसी भी कर्ण का कोई विषय नहीं है तानी च सव्यापाराणी सविषयानी नित्य विज्ञान स्वरूप भाव किया ये नवास चलती थी श्लोकार इसके प्रकाश को लेकर के ही वे सारे सारे अपने व्यापार के पुस्तक विषय में ग्रहण करते हैं नित्य विज्ञान स्वरूप के अवभाष को केवल लेकर के ही ये न अवभाष तया अवभाष जिस प्रकाश को लेकर के वे सब अपने अपने विषयों को स्व व्यापार द्वारा प्रकाशित करते हैं वो ग्रहण करके जानो उपाय दे रहे हैं ये श्रुति का समर्थन स्मृति को दिखा रहे क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशेती क्षेत्र तथा कृष्णम प्रकाशेती क्षेत्र करता क्या है क्षेत्र को और अन्य सारी चीजों को भी क्षेत्र तथा कृष्णम सारे चीज को प्रकाशित है और तो श्रुति वो तो समर्थक स्मृति हिम्मत होना कोई उल्टा नहीं बोलना बोलते हो ये श्रुति में प्रमाण दे रहा है स्मृति श्रुति को प्रमाण स्मृति नहीं करती है उल्टा को नहीं चला रहे हाँ श्रुति को स्मृति प्रमाणित नहीं कर सकती है आज श्रुति को स्मृति और पुष्ट कर सकती समर्थन दे और एक श्रुति को दूसरा श्रुति भी प्रमाणित नहीं कर सकती है उस बार बल प्रदान करती है तो गलत श्रुति स्मृति कहते हैं एक श्रुति है समान विषय दूसरा श्रुति कह रही है तो उस श्रुति को उसे गलत श्रुति कहा जाता है और स्मृतियों को पोषक कहा जाता है उल्टा नहीं कराना कि वो श्रुति को श्रुति प्रमाण कर दो श्रुति वो श्रुति प्रमाण कर दो ऐसा नहीं होता न श्रुति के प्रति स्मृति प्रमाण होती तो है तस्वीर आथ है पीछा आथर्वणिक तस्य भाषा भारतीय तस्य भाषा ये प्राण का अंतिम जो प्रयोग क्यों लिया जान करके क्रिया को भी दिखाने केवल ज्ञान शक्ति नहीं वास्तव क्रिया शक्ति विवरण के प्रकार से प्रकाशित होता है क्रिया शक्ति रवि आत्मविज्ञान निमित्ता केवल तो ज्ञान शक्ति ही नहीं क्रिया शक्ति भी आत्मा के विज्ञान स्वरूप निमित्त ही है तेरा बात को बताने के लिए अंतिम पर्याय लाया गया था ये प्राण इन प्राणी की ये जो प्राण प्रणोदे ब्रह्म इस प्रकार से ब्रह्मखंड परिपूर्ण प्राप्त हुआ जिसे खंड आरम्भ होता है श्री मंदिर से हम्म। यहाँ का राष्ट्र वाक्य है शिष्य विधि विचारना विपरीत संसारी अब इसकी व्याख्या करेंगे पूरा ही इस खंड का तात्पर्य को एक वाक्य में इतना ही वाक्य शिष्य बुद्धि विचालना गृहित कार्य शिष्य बुद्धि की विचारना क्यों किया गया कभी गृहित की स्थिरता करने के लिए हम्म। यदि मैंने तो सूर्य नहीं तो प्रतीक यही है ना वो तो प्रतीक है गुण पहचान जिसके जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं उसे पा रहे इसके आदि की व्याख्या करने जा रहे हैं तो इसके लिए पहले सूत्र वाक्य प्रयोग कर दिया शिष्य बुद्धि की जो उछालना की गई है यहाँ इस कथा में वो किस लिए है गृहित वस्तु का दृढ़ता के लिए है व्याख्या वेदाभ्याम निवर्त बुद्धि शिष्य स्वात्म अवस्थापित प्रवृत्ति की स्वराज्य अभिषिक्य उपास प्रतिषेधे अभाव से बुद्धि मिथ्या देखो पहले हमने क्या किया गुरु ने विदिता विदित से भिन्न है विदिता विदित से निवृत्त करके बुद्धि शिष्य का बुद्धि को क्या किया उन्होंने विदित वस्तुओं से और अविदित वस्तुओं से कार्य और कारणों से और व्यक्त व्यक्त से अलग कर दिया शिष्य बुद्धि को पृथक किया पृथक करने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पृथक कहा ले गए अपने सर्वस्था में रखा और कहा जो तुम्हारे स्वरूप होगा ना बस वही ब्रह्म तभी वो ब्रह्म दी थी स्वराज्य विशिष्ट स्वराज्य निरंकुश स्वातंत्र ने उसको अभिषिक्त कर दिया अब निरंकुश स्वतंत्र स्वरूप जो था अब तत्पराधीन तो में स्वतंत्र अज्ञानी था अनेक प्रकार का बंधन है अनेक प्रकार के जो उसके ऊपर अंकुश लगा हुआ लग रहा है कन्या में तो हम कर नहीं सकते ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता अनेक प्रकार की भावना थी वो सभी से हट करके महाराज जी में विशिष्ट हो विशिष्ट हो और जो कुछ उपास्य था उसका ही प्रतिशील हो बुद्धि उचाल हुई इस तरह से पूर्ण रूप है उसको स्वरूप में ले जा करके वह स्वरूप ही ब्रह्म है उससे दिन जो कुछ भी ब्रह्म है उपास्य वह ब्रह्म नहीं है ऐसा आप बताने के बाद अथा तदनंतरम अशिष्य बुद्धि विचारी उस शिष्य का बुद्धि को विचारित कर रहे हैं यदि मन से सुवेद अहम ब्रह्म थी ये तुम मानते हो कि मैं समय प्रकाश रूप में जान लिया बस मैं ही ब्रह्म हो ये जो शरीर उपाधि वाला ये मैं ब्रह्म हो ऐसे पकड़ेगा तो भी ब्रह्म समस्या क्या होगा इस शरीर उपाधि वाला जो मैं तो ब्रह्म हूँ और उस शरीर उपाधि वाला जो मैं वो क्या है तो ब्रह्म नहीं हो चुकी है ना इसलिए गुरु समझ रहा है कि कहीं ऐसा उल्टा तो नहीं बोल रहा कि अपने शत्रोपाधि को लेकर के मेरा मन नहीं ब्रह्म नहीं है मेरा इंद्रिय मन नहीं ब्रह्म नहीं है ठीक इन सबको जो है प्रकाशन करना जो तो मेरी आत्मा है यही जो मेरी आत्मा है ब्रह्म और तो दूसरे से आपका ब्रह्म नहीं ऐसे ग्रहण करेगा तो उत्तर ग्रहण कर रहा है ना वो इसको पकड़ना पड़ेगा इसलिए परेशान रहे हैं ऐसा ना हो उल्टा ना पकड़ लेगी उधर आसुरी वेदांत हो जाएगा वो इसीलिए स्वयं समझ रहे हो अहम ब्रह्म तम तथो अनुपम नहीं ब्रह्मण रूपम बच्चा फिर तो तुम निश्चित रूप से उस ब्रह्म का थोड़ा सा उसको पकड़ लिया थोड़ा भी पकड़ लिया इतना समझ लिया ना कि जो मेरी आपको इतना तो समझा ठीक ही तो समझा है फिर यही एक ही एक ब्रह्म है एक अंतर थोड़ा बहुत ठीक है इंद्रियों को ब्रह्म नहीं मान रहा है शरीर को ब्रह्म नहीं मान रहा है मन को ब्रह्म नहीं मानता है शरीर विज्ञान को ब्रह्म नहीं मान रहा है अपने को ब्रह्म मान रहा है इसको तो अच्छा काम कर काफी आगे बढ़ गया है लेकिन वही पूरा नहीं है पूर्ण नहीं है इसे कहते ब्रह्म का अल्पम रूपम यथात्मी मूलम निश्चितम मंडते आचार्य ऐसा आचार्य का कहना है ये तुम तो ऐसे मानते हो निश्चित रूप से तो तुम अवश्य ही अल्प ही जानते हो साथ उन्हें विचाराना किमर्थम इस प्रकार की जो शिष्य बुद्धि विचाराना बाकी का पूर्वार्थ में क्या हो सूत्र का शिष्य बुद्धि विचारना यहाँ तो उसकी व्याख्या है अब उसको किमर्थम तो छते रीत स्थिरता और उसकी व्याख्या पूर्व प्रीते और पूरी स्थिरता पूर्व में जो गृहित वस्तु था शुद्ध ब्रह्मा उसमें उसकी बुद्धि का स्थिरता को प्रदान करने के लिए जान करके विचारना किया गया यदि उल्टा का उल्टा करके कुछ पांच और बारह जोड़ा तो कितना होगा सत्रह और बारह और पांच जोड़ा तो सोलह हो जाएगा आज को उल्टा पड़ा इसमें लिख दिया तो हमने कई बार घबरा जाते हैं जमीन से दूसरा चंद डाल दिया तो हो सकता है सोलह होगा या अठारह होगा बारह प्लस पांच तो सत्रह है पांच प्लस ग्यारह क्या होगा पांच में घबरा जाता है एकदम घटपट बोली देगा सोलह या अठारह हो जाएगा ये तो विचार किसको कहते हैं विचार घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए वो घबरा जाए बात वही पूछते हैं हम न्याय मीमांसा व्याख्या वगैरह पढ़ा तो नहीं कर सकते ऐसा अगर घुमा के पूछ लो जवाब तो चले दे चुका है जवाब वो जानता है दिया भी है पहले एक तरह से पूछा तो जवाब सही दिया फिर घुमा के दूसरा पूछा तो देखते नवी भीड़ नहीं है ना अभी मन में वो सिद्धांत स्थिर नहीं है यदि वहां पास आपके मन में स्थिर है चाहे अच्छा, जैसा भी पूछे उसके बाद बनना है आपको इतना ही दिमाग गिरा के पूछे तो भी आप उस चीज के लिए अनुभव कर चुके हैं या आपका जो दृढ़ निश्चय हो चुका है फिर आप विचलित होंगे जवाब मिल मिलेगा बारह और पांच सत्रह हो गया ग्यारह और छह कितना हो गया सत्रह ही बोलोगे ना तो नहीं बोलोगे कि नहीं वहां जी हो तो ग्यारह ही छह हुआ छह तो कुछ और होगा तो जिसको जरूरी है वो विचलित हो नहीं सकता है जरा जरा उठा पलटा करके पूछो उसे जान के चलित किया क्यों पूरे भेद वक्त हुए उसकी बुद्धि को स्थिरता करने के लिए देवेश मैंने क्यों समझा में भी कोई कहे मैं उस ब्रह्म को सुष्ट रूप में जान लिया हूँ तो निश्चित रूप से वो नहीं जानता सौ के ब्रह्म रूपम गहरमेर व्यक्ति वह इस ब्रह्म के सब थोड़ा ही जानता जीवन निश्चित रूप से अस्मत कह रहे हैं आप आवश्यकता कस्य ब्रह्म न ब्रह्म किसके विषय में रूप तो देवताओं का विषय या हमारा और आपका विषय कैसे बन जाएगा हम जैसे जान लेंगे तो मैं ब्रह्म को जान लिया कैसे कह दूंगा कोई देवता भी कैसे कह देगा मैं उस ब्रह्म को जानता हूँ विषय है क्या जैसे मैं घर को जानता हूँ मैं जो ब्रह्म को जानता हूँ कैसे कह दूंगा घर ब्रह्म एक जैसे हम कितने तो ये गलत है ना ये ऐसा कोई भी कहता है तो निश्चित रूप से गलत कर रहा है

इसलिए जब ब्रह्म को सुविधित करके जो समझ रहा है वो अल्प ही जान रहा है इसलिए रूपम अन्य देव तरीका विजिट से भी नहीं और जो सुविधा है वो विजित कोटि में आ जाएगा जो भी जिसको भी आप मेरे द्वारा शिक्षक प्रकार जाना हुआ समझते हो तो क्या हो जाता है वो विजित कोटि में आ जाता है पढ़ा भी इसलिए कार्य तो, तो प्रेम को आपने विदित कोटि में डाल दिया तो मंत्र का विरुद्ध हो गया ना मंत्र क्या है अन्य देव विदिता पढ़ा भी उसको विदित कोटि में डाल दिया विदित तो से भिन्न नहीं ग्रहण किया तो आपने आगम को सूर्य से ग्रहण नहीं किया एक विचार न करने की लाभ है वही करें अन्य विदिता युक्तवाद ऐसा कहने के कारण से इन ग्रहण का सुविध रूप को आप ग्रहण कर रहे हो तो अलग समझो मन से अत अल्पम तम ब्रह्म रूपम जिसलिए ऐसा है इसलिए अथनु तस्मात अब भी आज भी समय भी तुम्हारे लिए अभी वो चिंतन का विषय है मरण का विषय है सुना हुआ है वाक्य अब उसका मरण अभी पूरा ठीक ठीक नहीं हुआ है ते मन तव ब्रह्म विचार्य यावत विदिता आगमार्थानुभव कब तक विचार करना है जब तक आपको विदित और अविदित से का प्रतिषेध का जो पढ़ने वाला आगमार्थ है उसका अनुभव जब तक नहीं तब तक मनन करना है मन में वीतम की शिष्य से मीमांसानंद प्रति अब जो है वह शिष्य ने खूब विचार किया खूब मनन किया मनन करने के पश्चात वो कहता है मन में मिले प्रत्युत्तर संगते ये तीनों ज्ञान की संगति बैठ गई आगम की संगति आचार्य का वचन की संगति आचार्य ने जो उसको कहा मैं सुने आया मेरा अनुभव ऐसा ही है और स्वानुभूति तीनों को भी संगति बिठा करके कह रहा है मन प्रत्यक्ष कौन से प्रत्यक्ष है सब व्याख्या करेंगे क्योंकि सूत्र वाक्य हमेशा होता है तो उसका वाक्य स्वयं भाषा का एकदम नाम वाक्य भाषा ऐसे सूत्र वाक्यों को बीच बीच में प्रयोग कर देते हैं सारा का सारा मंत्रों का विस्तार से चर्चा करते जा रहे हैं समय सम्यक निश्चयाय विचारित शिष्य आचार्य मीमांस निवते चौथा वेदांत समाहितो भूतवा विचार्य यथोत्तम सुपरिचित सन आहा न ना सम्यक वस्तु निश्चित आया सम्यक प्रकार से वस्तु तत्व का ज्ञान परिचित कराने के लिए शिष्य आचार्य ने विचालित शिष्य जो है आचार्य के द्वारा जो विचालित किया गया और यह आदेश भी आचार्य ने मीमांस निवृत्ते यह अभी भी तुम्हारे लिए चार विचारदर्शी ही है जब ऐसा कहा कि चौथी सती एकांत समाहित तो, तो एकांत स्थान में चला गया और सभी इंद्रियों का विग्रह करता हुआ प्रत्यारधारा आदि का अभ्यास करते हुए विचार निध्यासन किया तो क्या हुआ यथोत्तम सुपरिचित यथोक्त उस पदार्थ के बारे में सुपरिचित सुनिश्चित नहीं हुआ सुपरि सुष्ठ रूपेण मैंने विजित और अवैध भिन्न निश्चय करके उसने कहा क्या कहा आगम आचार्य प्रत्यय आगम प्रत्यय आचार्य प्रत्यय दो और आत्मा प्रत्यय इन तीनों प्रकार के से एक विषय संगत हम मेरी प्रत्यय संगत है कि आगम के द्वारा बोधि जो प्रत्यय आचार्य के फन करने का द्वारा बोधि जो प्रत्यय और स्वात्मानुभव केंद्र बोध जो प्रत्यय इन तीनों प्रत्ययों का एक विषय के अनुसंगति बैठ गया अब कहीं विरोध नहीं है न्यूनाधिकता नहीं है इसलिए जो है एवं ही सुपरिष्ठिता विद्या ऐसे जानने पर ही समझा जाएगा तो शिष्य के हृदय के अंदर अब वो विद्या सु और परिग्रह निष्ठा को प्राप्त कर रही है सफला क्या न अनिश्चित ही न्याय प्रदर्शित होती है कभी सफल होगी नहीं दिया नहीं तो नहीं इस युक्ति को यहाँ दर्शाया गया है मन में निगम की परिनिष्ठित निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु कहते हैं मान्य विदितम में ये विदित स्वरूप को लेकर घबराना नहीं है कि ब्रह्म विदित हो गया तो विदित को भी मैं ब्रह्म इसे स्पष्ट करते हैं विदितम का तात्पर्य क्या है कि आपका प्रत्येक प्रविष्ट वर्तमान काल का बोधक है विषया बोले कर्मणी प्रत्यय नहीं है कर्मणी व्यक्ता नहीं है कर्तरी व्यक्ता है इसलिए कहते परिनिश्चित निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा का ही प्रति कारण रूपेण यहाँ पर एकदम से दत्ता प्रत्यय प्रयोग हुआ इसमें